पुराण वशिष्ठ बता नहीं मैंने वेदों में उपनिषद इत्यादि आ गए चाहे उनको सुनो और चाहे पुराण भागवत सुनो रामायण सुनो और चाहे महाभारत सुनो चाहे गीता सुनो कोई ना कुछ कुछ न कुछ तो इन सबने नित्य चलना चाहिए <clears throat> ये हो गया अब देखो <clears throat> एक बार की तो घटना यहाँ पूरी हो गई अब आगे को दूसरा प्रसंग देखिए एक बार रघुनाथ बुलाए दुजपुरवासी सब आए बैठे गुरु मुनि अरुदिज सज्जन बोले बचन भगत भव बंजन सदम सकल पुर जन्म बानी कहु न कछु ममता और नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई सुनो करो जो सुमहि सुहाई सुई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मान जोई यौवनीत कछ भाषौ भाई तो बर जहु भय बिसराई बड़े भाग मानुष तन पावा दुर्लभ सब ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा न जही पर लोग हमारा तो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन बचिताए काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए वरना चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय एक बार कहकर के फिर बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद की एक घटना फिर इस प्रकार की हुई व्यवस्था भगवान के क्षेत्र रोज रोज नए नए प्रकार के होते हैं एक नई योजना नया कार्यक्रम एक दिन फिर बना रघुनाथ बुलाए भगवान ने सब लोगों को बुलाया गुरु द्विज पूर्ववासी इन सबको बुलाया और सब आए मन एक बृहद सभा हुई भगवान ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई जिसमें कि सभी वर्ग के लोगों को बुलाया सब प्रवासी लोग सब इकट्ठे हुए उसमें विप्र लोग जो है वो भी आए गुरुजन जो है वशिष्ठ आज वो भी थे मैंने वशिष्ठ जी गुरुजनों से संतों से सन्यासियों से वानप्रस्थियों से जो सरयू के किनारे अपने अपने आश्रम बना करके रहे थे वे सब आए अयोध्यावासी सब आए अयोध्यावासी विभिन्न वर्ग के लोग अलग अलग प्रकार के काम करने वाले अलग अलग तरह के जीवन जीने वाले वो भी सब लोग आए माने विविध प्रकार के सब लोग समाज में जितने थे वो सब आकर इकट्ठे हुए अब पिछली बात तो केवल भाइयों की शिक्षा थी हनुमान को शिक्षा थी अब भगवान सबको एक शिक्षा देना चाहते तो अब ये जो शिक्षा जो सबको बुलाया और सबको शिक्षा भगवान देना चाहते हैं अब वो बात कहते हैं जो सबके लिए उपयोगी है मैंने हम्म? विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं और विशेष व्यक्ति के पूछे जाने पर भी नहीं देखो दो प्रकार की शिक्षा है एक तो ये कि जब कोई पूछता है भगवान से पूछता है या गुरु से पूछता है तो फिर उसका उपदेश देते हैं शिक्षा देते हैं और एक ये है कि भगवान स्वयं सबको बुलाते हैं और सबको शिक्षा देते हैं तो भगवान को अपनी तरफ से जो सबके कल्याण की बात कहनी है वो सबको सुना रहे हैं अब आगे जो कुछ बात भगवान की शिक्षा चल रही है वो ये नहीं कह सकता भाई ये तो ज्ञानियों की बातें हैं ये तो हनुमान जी की बातें हैं ऐसे नहीं है अब वो जो बात भगवान शिक्षा देने जा रहे हर किसी के हर किसी व्यक्ति को सोचना चाहिए मानो भगवान हम ही से बोल रहे हैं हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं इस प्रकार से सोचेंगे तो सभा में सभी लोग आए भगवान ने सबको बुलाया और सभी लोग आए भी जब भगवान की इच्छा हुई आदेश हुआ कि सब लोग आना चाहिए तो सब लोग आए आमंत्रित होने पर और बैठे गुरु मन और द्विज सज्जन उनको सबको जो है वो भगवान ने आदर पूर्वक सबको बैठाला वशिष्ठ जी को ला मुनियों को बैठाला विप्रों को बैठाला सज्जन लोग जो आए हुए थे वो सब लोग जो है वो हो उन सब लोगों को साधु सज्जनों को सबको यथास्थान स्थान दे करके एक बृहद सभा बड़े मैदान में खूब सभा लंबे चौड़े मैदान में सभा हुई वहां सब लोग बैठे बोले बचन भगत भवभंजन भगवान ने फिर बोलना प्रारंभ किया तो पहले तो उन्होंने भूमिका थोड़ी सी बताई और फिर जो बताना था वो बाद में बताई तो भूमिका है तो अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं बोले बचन भगत भव भंजन भक्तों के भव का भंजन करने वाले भगवान बोले <clears throat> मैंने भक्त जो है वो संसार सागर में न पड़े रहे संसार कूप में पड़े हुए दुखी न होते रहे उससे निकले ये भगवान का प्रयास रहता है बराबर कि जब भक्त लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं संसार जाल में फंसे हुए हैं और भगवान का नाम दे रहे हैं तो भगवान भी कोशिश करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो है संसार जाल से बाहर निकले वैसे ही उनको उपदेश देंगे अब संसार सागर से निकलने का उपाय क्या है वैसे तो ये कहेंगे कि भगवान कह रहे हैं संसार सागर से बाहर निकालने का भगवान का वो निकालेंगे निकालते हैं भगवान लेकिन व्यक्ति को स्वयं उसमें से भी कोशिश करनी पड़ती है ये नहीं कि व्यक्ति अपने आप पर ढीले छोड़ दिए जब भगवान हमें संसार सागर को उद्धार करेंगे तब कर देंगे हम तो बैठे हैं ऐसे नहीं है अगर ऐसा होता तो भगवान सभा न बुलाते सबसे कुछ कहते नहीं सास को अपनी जादू की लकड़ी घुमा देते सब संसार का गलता है हाँ? लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं किया सबको अपना अपना करना पड़ता जैसे भवकूप में कोई पड़ा हुआ है संसार कूप में कोई कुएं में पड़ा हुआ है तो कुएं से अगर उस व्यक्ति को निकाले कोई व्यक्ति को तो कैसे निकलेगा तो ये थोड़े कि जा करके वो व्यक्ति नीचे जाए फिर अपने कंधे पे लाद लावे और फिर बाहर आवे निकाले उसने ऊपर से रस्सी लटका दी नीचे बस इतना काम बहुत हो गया उसका अब उसका व्यक्ति का काम रस्सी पकड़ पकड़ कर पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़े और बाहर निकले अब कोई कहे कि मैं नहीं रस्सी पकड़ कर ऊपर चलूंगा तुम ही आओ मुझे लड़ चलो तो मैं पड़े रहो तुम वहीं पर क्या जितनी सहायता की जाती है उतनी तो की जाएगी सहायता इसलिए भगवान ने एक रस्सी छोड़ दी सब लोगों को उद्धार के लिए कि देखो ये लंबी रस्सी है इसी के सहारे पकड़ो आगे बढ़ो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा सहारा दे दिया बस बाकी स्वयं प्रयास करना पड़ता है कहीं कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में इस प्रकार की मिथ्या धारणाएं भी फैली हुई समाज में जो शास्त्र स्वीकार नहीं करता यद जब समाज में कभी कभी अत उत्साही लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं जो शास्त्र में नहीं है वैसे भी कार्य करते हैं कहीं कहीं गुरु लोग अपने शिष्यों की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लें कि हम्म, सारी जिम्मेवारी मेरी है अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तुम्हें कुछ नहीं करना कैसे हो जाएगा बस हमारा तपवल इतना है जहां तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखा वहां बात एकदम से लोग कहेंगे सबसे अच्छा सिद्धाश्रम यही महापुरुष यही सबसे बसेनी उपासन पासन सब मिलोगे सब विचार क्यों कि हर कोई व्यक्ति आक्रमण कल की बात जो कर रहे थे हर कोई व्यक्ति चाहता करना धरना कुछ न करे और फल समान मिल जाएगा जैसे लौकिक क्षेत्र में करना धरना कुछ न पड़े धन संपत्ति वैभव बहुत मिल जाए ऐसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी ऐसे लोग क्या चाहते हैं करना धरना कुछ न पड़े सिद्धि सब मिल जाए उनको प्राप्त हो जाए और अगर कोई बता ऐसा हो सकता है तो बात ये सबसे अच्छा तरीका है लेकिन शास्त्र का मत ये है कि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं प्रयास नहीं करेगा तपस्या नहीं करेगा तब तक ये सब होने वाला नहीं है उपदेश इसीलिए शास्त्र इसीलिए मार्गदर्शन करने के लिए ये मार्ग तुम्हारे लिए सीधा रास्ता ये है इसमें कोई कठिनाई नहीं है इस प्रकार की साधना करो आगे बढ़ो साधना नहीं कोई करना चाहता अभ्यास नहीं कोई करना चाहता नहीं लेकिन जो लोग इसमें अध्यात्म के शिक्षक लोग जो है वो सही बात बोलने वाले हैं वो सब इस प्रकार की चमत्कारी बातें नहीं करते इनका बहुत पहले हमने स्वामी शिवानंद जी की पुस्तक पढ़ी उसमें एक लेटर उनका छपा हुआ था उनकी हैंड राइटिंग में उसमें सबसे पहला सेंटेंस ये था कि there is no half measure in spiritual path और ये भी there is no shortcut in spiritual path no shortcut कहते शॉर्ट कट ये सबसे अच्छा है गुरु के पास जाओ उसने सिर के ऊपर हाथ रख दिया ऐसे आसान का तरीका शार्ट कट है एक कहते शार्ट आठ कट कुछ नहीं किया मेरे साथ साफ बोल दिया और मैंने कभी अपने जीवन में कभी इस प्रकार का जो है किया भी नहीं जो कोई आवे और किसी की कुंडली शक्ति जागृत कर दें है हाँ, किसी को जो है वो सत्य हाथ रख करके सुख चमत्कार करके उसको ज्ञान और समाधि लगा दें इस प्रकार के कभी कोई कार्य उन्होंने किया भी नहीं शिवानंद जी ने उसी परंपरा में देखते हैं गुरुदेव ने भी इस प्रकार के कभी का आश्वासन नहीं दिया कि तुम कुछ न करो अपने आप हो जाएगा हम सब कर देंगे ऐसे कभी नहीं बोला इससे जो है वो जो अपने शास्त्र में कहीं इस प्रकार करें अपने गीता पढ़ गए इतना रामायण पढ़ गए इसमें ऐसा कहा कि एकदम से बिल्कुल जो है वो कहीं किसी को कुछ न करना पड़े अपने आप से इस प्रकार से हो जाएगा ऐसा कर देंगे हैं तुलसी तो बात ऐसा नहीं कहते तो यही बार बार यही कहते हैं जब आगे उपदेश भगवान देते हैं कि देखो ऐसा करो ऐसा करो ये गलत रास्ता ही सही रास्ता बार बार इसी प्रकार बताते हैं करना अपने आप पड़ेगा प्रारंभ में जब वो कांड की जो वो श्लोक जहाँ से शुरू होते हैं मंगलाचरण के उसमें चार श्लोक चार प्रकार की कथा के उतरे ही है एक तो व्यक्ति जो वो सबसे पहले तो आपकी कृपा चाहिए अपने आप जो व्यक्ति अपने ऊपर कृपा करता है उसी का उद्धार होता है दूसरी कृपा शास्त्र की जरूरत पड़ती है शास्त्र अध्ययन करे तो वो शास्त्र मार्गदर्शन करेगा और शास्त्र की भी बात में समझ में आ तो गुरु कृपा की जरूरत पड़ती है जो उसको शास्त्र को समझा दे और तीसरे ईश्वर की कृपा की जरूरत पड़ती है लेकिन ये सत्य का सब काम करते हैं जो अपने आप अपने ऊपर कृपा करता है जो स्वयं नहीं करता अपने आप अपने ऊपर कृपा वो तीनों कृपा एक से एक शक्तिशाली होते हुए भी प्रभावहीन है किसी का कोई कल्याण नहीं कर सकते न शास्त्र तो किसी का कल्याण कर सकता है जो प्राणमुख है शास्त्र को कोई जो है उनको मार्गदर्शन नहीं दे सकता गुरु जहां इतना अच्छा हो कोई कितना उपदेश देने वाला हो जो उसमें श्रद्धा नहीं रखना सुनने वाला नहीं है तो उसको कोई उसका कुछ नहीं कर सकता मार्गदर्शन नहीं कर सकता परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान सबके परमात्मा ही के रूप है तो परमात्मा जितने जीव है परमात्मा ही के रूप होते हुए भी और सर्वशक्तिमान परमात्मा होते हुए भी वो भी चाहे कि सब लोगों का एकदम उद्धार हो जाए वो भी नहीं कर सकता जब स्वयं व्यक्ति अपना उद्धार करेगा तभी होगा तभी तो भगवान को गीता में छठवें अध्याय में कहना पड़ा तो उद्धरे आत्मन नाम नात्मानम अवसादे उद्धरे आत्मनात्मा अपने आप अपना उद्धार करो अब कैसे करें ये तो बोल सकते हो हम्म, ऐसे करो ऐसे करो बता देगा तुम लेकिन अभी तो हमारे बदले कर रहे हो नहीं होगा विवेक मन में भी आप देखेंगे वहां पर भी सब शुरू होता है ग्रंथ शुरू होता है तो शब्दाचार्य कई श्लोक देते हैं उसमें और कई उदाहरण देते हैं तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सिर के ऊपर बोझ लिए जा रहा हो तो आप ये हो सकता है उसका बोझ अपने सिर के ऊपर रख लो उसको हल्का कर लो ऐसा हो सकता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बीमार पड़े तो कोई दवा हम खा लेते हैं कभी दवा तुमको तो तकलीफ दे हम खा लेते हैं या क्या काम करेगी दवा सहायता भी की जाती है जहां जिस प्रकार की सहायता होती है वैसी सहायता तो की जा सकती है अब बीमार आदमी को दवा दे करके तो दी जा सकती है लेकिन उसके बदले में खाई पड़ी जा सकती है उदाहरण देते हैं कि जैसे पिता ने अगर मान लो कर्जा लिया है तो लड़का पैदा होगा बच्चा बड़ा हुआ उसने कहा पिता इसका कर्जा कर गए थे उसका चलो छोड़ देंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा नरक में जाना पड़ेगा तो पुत्र ने अगर पिता का कर्जा चुका दिया तो जब तक चुका सकता है वो तो हो सकता है लेकिन अब पुत्र कहे कि हम पिता के बदले में हम आध्यात्मिक साधना करके उनको मुक्त कर देंगे तो उसकी साधना पिता सामने नहीं आएगी पिता को अपने आप करनी पड़ेगी इस प्रकार से जो ये सिद्धांत कई सिद्धांत है उसमें कई उदाहरण देकर के शंकराचार्य को यही बताना पड़ा इसलिए इतने उदाहरण दिए जिससे व्यक्ति जिम्मेदारी अपने ऊपर ले स्वयं अपनी योजना बना रहे स्वयं प्रयास करे अपने का निष्कलन और उसके प्रकार वही तो बात देखते हैं के भगवान जो बार बार उपदेश ही देते हैं उपदेश लेकर के कल्याण हो सकता है तो जिसका के करे अपना कर ले नहीं तो और कोई उपाय नहीं इसलिए भगवान मेरा भगत भवनमन है तो भगत भवनमन किस प्रकार से है ये समझो अब उसका भगत भवनमन को ये नहीं बोले हम अपने बैठे हुए हैं भगवान भगत भवनमन है इसलिए जब होगा तो हमारा उद्धार कर देंगे ऐसी है तो नहीं सनम सकल प्रजन्मन बानी फिर भगवान सबको कहते हैं भाई सभी लोग आप एकत्र हुए हो अब हम जो बात बता रहे हैं उसको आज हम कुछ कहना चाहते हैं उसे समझो ये जो यहाँ से एक बार रघुनाथ लाए यहाँ से जो प्रथम भगवान का उपदेश है ये पूर्जन गीता कहलाता है पूर्जन गीता ये एक प्रकार का गीता है जैसे भगवत गीता संस्कृत में महाभारत का एक अंग ऐसे रामायण में जो गीता है वो भी है पूर्जन गीता कोई कोई से राम गीता भी कहते हैं लेकिन वैसे राम गीता करके भगवान ने कही जगह लक्ष्मण जी को अपने अरण्य कानून में भी दिया है तो वहां का लक्ष्मण वहां पर राम गीता उसे कहते हैं लक्ष्मण जी ने निषाद को उपदेश दिया उसे तो लक्ष्मण गीता कहते हैं नहीं तो भगवान ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया उसे तो लक्ष्मण गीता कह सकते थे लेकिन लक्ष्मण गीता उसको कह देंगे तो फिर वहां पर उसको लक्ष्मण जी ने निषाद को उपदेश दिया वहां निषाद गीता कहना पड़ेगा है इसलिए नामकरण के अनुसार संदेश भी नाम का हो जाए इसलिए इस स्थान को कुछ लोगों ने सृजन गीता बोला है सूर्यन को नगर वासियों को इंद्रावासियों को भगवान ने उपदेश दिया है इसलिए सूर्यन गीता के नाम से प्रसिद्ध है ये यहाँ से जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया तैसे ये सब उपदेश है और ज्ञान की बातें भगवान ने अध्यात्म की बातें इसमें सब बताई हैं तो भगवान कहते हैं कि सुनो सकल प्रजन्म वाणी ये सब गुर्जर लोग हमारी बात को सुनो हम जरा तुमको कुछ बताना चाहते हैं कहीं न कुछ ममता और यानी जो कुछ हम कुछ कहना चाहते हैं वो ये न समझो कि कोई ममता तुमसे बहुत ज्यादा है तो हम ममता के कारण बता रहे हैं ये भगवान कहना चाहते कभी कभी ममता जो है व्यक्ति को सही उपदेश नहीं देने में सहायक नहीं होती ममता के कारण से कभी कभी गलत उपदेश भी हो जाता है इसलिए कहते हैं इस समय जो हम उपदेश दे रहे हैं वो शुद्ध उपदेश है मेरा तेरा की इसमें कोई बात नहीं ममता से मिला करके तब तुमको उपदेश दे रहे हैं ऐसा नहीं है अब ये देखते हैं कि माता पिता भी पुत्र को उपदेश देते हैं उपदेश देते हैं अच्छा उपदेश देते हैं और वहां जिसकी जो ममता पुत्र में होती है उसके कारण उनके हितकारी उपदेश ही देते हैं लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं दोष रह जाता है एक बार छोटे बच्चे स्कूल जाने में एक बच्चा कहने लगा कि आज हम नहीं जाएंगे स्कूल आज हम नहीं जाएंगे पिता जाता है नहीं जाना पड़ेगा क्या स्कूल जाएंगे खराब होंगे कभी खराब हो गए तो तुम्हें नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हम आज नहीं जाएंगे माँ ने कहा हम मन नहीं तो रहने को नहीं मैंने तो रहने दो कल चला जाए हम्म। तो मक्का क्या करती है हम्म? लेकिन माता पिता के पास जब कोई बालक गुरु के पास पहुंचता है तो वहां से ये ममता इस प्रकार की नहीं है हम्म? वहां पर उपदेश खड़ी खड़ी बात तो दूसरे प्रकार के उपदेश गुरु का माता पिता का उपदेश दूसरे प्रकार का गुरु का उपदेश दूसरे प्रकार का उसमें ममता नहीं थे भगवान जी बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर जो कुछ हम बात बता रहे हैं मन का रही शुद्ध बात हमको बता रहे हैं इसमें कोई नमक की बात नहीं इसलिए कहते हैं नहीं अनिल को नहीं कथित बताई और जैसे जो कुछ बता रहे हैं उसमें अनिल की बात भी हम कुछ नहीं बता रहे तीसरी बात कि हम उसमें कोई प्रभुता की बात भी नहीं बता रहे हैं उस उपदेश में तीन देश आ सकते हैं वो भगवान ने उल्लेख कर दिए उपदेश देने वाले में अगर घूमता हुई तो उसका उपदेश पूरा पक्का सही नहीं होगा दूसरी बात उपदेश देने वाला व्यक्ति अहित की शिक्षा नहीं दे सकता है विरुद्ध बात भी दे सकता है तो वो भी उसकी शिक्षा माननीय नहीं है उपयोगी नहीं हो सकती तीसरी प्रकार की शिक्षा ये कि प्रभुता जैसे कोई स्वामी है वो क्योंकि स्वामी है इसलिए आदेश देता है तो वो कितनी न्याय संगत होगी नहीं होगी उचित है कि नहीं उचित होगी उसमें संदेह हो सकता है भगवान राम उस समय राजा है तो कहते हैं राजा होने के कारण से तुमको बता रहे हो कि हम राजा हैं तो ज्ञान देने के लिए उपदेश देने के लिए अधिकारी हो गए इसलिए हम तुमको बोल रहे हैं सो बात नहीं तीन बातें जो है उसमें जो वो हो उपदेश में तीन प्रकार की शुद्ध उपदेश में व्याधियां हो सकती है भगवान ने मना कर दी कि वो सब बातें हम नहीं रखते हैं और उसके बाद भी तुमको कुछ बताना चाहते हैं वो सुनो सुनो करो जो तुम्हें सुहाई अब देखो एक बात और भी कि हम जो कहते हैं उसे सुन तो लो है हाँ? लेकिन उसके बाद में हम ये नहीं कहते हैं जैसा तुम करो ही करो हम्म? तुम्हारी इच्छा हो तो करना तुम्हारी इच्छा हो तो न करना तो ये फ्रीडम ऑफ विल जो है ये ये व्यक्ति को तो मनुष्य को जो प्राप्त है साथ इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए छूट भी देते हैं कि इसका प्रयोग हर व्यक्ति करे ये व्यक्ति व्यक्ति को कर्म स्वातंत्र जो प्राप्त है वो कर्म स्वातंत्र हर व्यक्ति अपना अपना एक्सरसाइज करे ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे की साधना कर दे उसका कर्म स्वातंत्र तो रहा नहीं समंदर का स्थान अपने स्थान पर है हर व्यक्ति जब अपने आप से अपनी अपनी साधना करे स्वयं समझे और समझ करके जितनी समझ में आए उस प्रकार से करे तो भगवान यहाँ पर इसमें भी करो तुम्हें तो जो, जो तुम्हें सुहाई तो इसमें दो बात है एक तो ये कि हम कहते जरूर है तुम्हें सुहाय तो करना मैं सुहाय न करना दूसरी बात ये कि हम कई प्रकार की बातें बताते हैं विभिन्न स्तर की बातें बताते हैं प्रारंभ से एक एक सीढ़ी सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं से की दृष्टि की जो बात हमारे समझ में आए ये भगवान ने जो बहुत अच्छी बात कही ये हमारे समझ में आई सुना लेना उसी को करना सब बात में सही एक दो बात उसको सीख लेना उन्हीं को तो कर लेना यही बात है तो कहते हैं कि सुनो करो जो समय सुहाई और सुख प्रियतम न मैं भगवान कहते हैं कि देखो अनुशासन माने कोई जो मेरा अनुशासन मानेगा वो मुझे प्रिय है अब ये भगवान की प्रियता के लिए भगवान ने ये भी बात जोड़ दिया कि तो वैसे तुम महिला ऐसे करो जैसा चाहो वैसा करो लेकिन जो ये जो भगवान बता रहे हैं सब भगवान का अनुशासन है शासन कहलाता है शासन को जानते हैं सरकारी शासन होता शासन कहलाता है लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में भी शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है सात शासन गुरु का शासन यहाँ शासन के माने है उपदेश या शिक्षा शास्त्र और शास्त्र से ही बना शासन शास्त्र से ही बना शिष्य जो शास्त्र को माने तो शिष्य हम्म, और शास्त्र जो बताता है वो शासन है मनोज जो उपदेश हम दे रहे हैं इस उपदेश को तुम जो है मानते हो और इसी का अंतर आचरण करते हो तो फिर मुझे प्रिय होगी एक बुरी बात है लेकिन तुमको तो इसकी परवाह न हो कि भगवान को हम प्रिय हो न हो क्या करना तो मर्जी हो तो करो जैसे सही सेवक मेरा रही अब सेवक के बारे देखो एक परिभाषा यहाँ हो जाती है अन्य भी कहा कि देखो जो व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है वही सेवक है आज्ञा कम न सुखाही सेवा अन्य कि आज्ञा का पालन करने के समान स्वामी की सेवा और कोई नहीं है आज्ञा का पालन न करे और स्वामी की सेवा बचा करे तो वो सेवा बहुत कम सेवा नहीं आज्ञा का पालन करना सेवा है फिर कहते हैं सही सेवक हमारा सेवक कौन जो इस आज्ञा का पालन करे जैसा जो उपदेश दे है उस उपदेश को माने वो तो, तो हमारा सेवक और जो उपदेश हमको मानेंगे नहीं वो क्या बात तो सही सेवक उपदेश मन सोई मन अनुशासन माने गई कहते जय होनी कहते भाषण भाई अभी पात्र को क्या कहते पहले भगवान ने कहा नहीं हमें हमारी की बात नहीं कहते लेकिन हो सकता है कि हम अपनी तरफ से नीति की बात कह रहे हों लेकिन आप लोग यहाँ देखो बखसी बैठे उनके सामने हम बोल रहे हैं और दुर्गम संत लोग बैठे हुए हैं मित्र लोग बैठे हैं एक ज्ञानी बैठे हुए हैं हम लोग बैठे हुए हैं इनके सामने हम बोल रहे हैं तो अगर कभी गलती दिखाई दे अनेक की बात दिखाई दे तो हमको टोक नहीं सकते हो ये नहीं कि भगवान बोल रहे हैं तो बोले नहीं तुम्हें हाँ? प्रहलाद बोल रहा है इस समय तो कौन बोले उनके बीच में किसकी हिम्मत है अब जो कहें भला भला तो ठीक है ऐसे नहीं छूट देते हैं कि अगर जो वो जय अनित कति भागो भाई कुछ हम अनित की बात हमें भूल जाए तो तुम उसको क्या करना तो मैं दर्जे भय से कराई तो भय छोड़ करके तुम मुझे रोक देना तो मैं ये बात ठीक नहीं कही ये विचार का तरीका ये है देखो भगवान की कितनी उदारता है किस प्रकार के विचार करते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम है हम्म? कोई ऐसा नहीं एकदम से एस्टोक्रेसी जैसा एक आदेश दे दिया दे दिया चाहे गलत तो होता है सही हो सबको मानना पड़ेगा कहते हमने बताया अगर कहीं गलती लगती है तो बताओ कहां होती है और पहले खराई समय हम जानते हैं कि हमारे कारण लोगों को डर भी हो सकता है कि एक सम्राट राजा दो में हम कैसे कुछ विरोध की बात बोले तो यहाँ पर विरोध की कोई बात नहीं है आप बोल सकते हैं यहाँ पर गलती है बता दो तो उसको विचार कर लिया जाए ध्यान लेकर बात है लेकिन देखते हैं आगे चल करके भगवान बोलते हैं जो कुछ उपदेश देते हैं तो कोई गलती निकालता नहीं है उसमें कोई कहता नहीं कि भगवान आपने ये गलती बोल दी है ठीक नहीं ऐसा है ऐसा कोई नहीं बोलता मतलब सब लोग उसको स्वीकार करते हैं कि इसके मैंने कोई अनित की बात इसमें नहीं है अनित के मैंने अनुचित बात नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भगवान उपदेश दे रहे हो जो उपदेश सुने भगवान के कहे के चले वो अपना सत्यानाश कर ले कहा भगवान के कहे चले चलेंगे तो सत्यानाश ही है हम सब बिगाड़ी कर सकते हैं जो तो कुछ जिंदगी तो कर ही नहीं सकते ऐसी धारणा लोग ऐसा नहीं <clears throat> ये सब कसर लोगों के कल्याण के लिए है उनके लिए हित के लिए है लाभ के लिए नहीं है बिगाड़ने के लिए नहीं है बनाने के लिए सब लोगों के लिए है ऐसा समझ करके भगवान की जो उपदेश है वो सुनने योग्य है अब यहाँ इसलिए तो उनकी भगवान की भूमिका हो यहाँ तक अब जो मुख्य उपदेश है अब भगवान यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें जो कुछ कहना है वो ये बात ये है कि यहाँ से देखो कि सब लोगों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है इसका सदुपयोग होना चाहिए बड़े भाग मानुष संपादा यहाँ से विचार शुरू करो जैसे भजन गोविंदन में आचार्य कहते हैं कि पहले ये विचार करो कि हम कौन है कहाँ से आए क्या है हम्म? ऐसे विचार करो कि आखिर मनुष्य सभी हमें प्राप्त हुआ है जो कौन मिला इसकी क्या उपयोगिता इसके द्वारा हम सबसे अच्छा इसका उपयोग क्या कर सकते हैं तो बड़े भाग्य मानव कर्म करने वाले अभिनंदन मिल जाए दंड के कारण सत्तर काट दोगे और क्या कर सकते प्राणियों में से मन शरीर कितना कितने लोगों को प्राप्त हुआ अरे संसार में सबसे कम प्राणी है प्राणियों में से कोई जात का तो मनुष्य ही है अंदर है मनुष्य भी प्राप्त होता है संख्या के साथ मतलब लगता है मतलब वैसे दूसरे अनुसार से ये देखे कि मनुष्य को जितनी बुद्धि प्राप्त है जितने प्राणियों को प्राप्त है आसपास जितना देश है उतनी बुद्धि किसमें है और प्राणी है उतनी बुद्धि मनुष्य को भाषा का ऐसा ज्ञान है हजारों वर्ष का ज्ञान परंपरा से चला रहा है उनको प्राप्त है अन्य प्राणियों में कहीं ऐसा सुयोग है किसी प्राणी जिनको भाषा का ज्ञान हो जिनका साहित्य अपना हो और जिनके पूर्वज लोग उनका ज्ञान अनुभव ज्ञान उनके लिए छोड़ रहे हो गाय है कि बैठ है कि बकरी है कि सांप है कि सिंह है होता दुनिया में कौन होगा तो ये विशेषता मनुष्य कभी को ही प्राप्त है इसमें इतिहास सकता है किन किन प्राणियों के इतिहास है किसी के क्या है दस हजार वर्ष पहले जैसे बकरी होती थी आज दस हजार बकरी उसी प्रकार की बकरी है और उसका इतिहास फिर एक तरह बकरी है क्या इतिहास है कोई इतिहास है जैसे उसकी माँ के बाप जैसे बाप के बाप जैसे बाप के बाप उनसे बच्चे लेकर के आज तक कोई उनका इतिहास है फिलहाल जैसे कि कैसे एक मनुष्य है उसी का इतिहास इतिहास आप पढ़ते हो कितने कितने किस प्रकार के पहले लोग थे क्या शिक्षा थी किस प्रकार का समाज था फिर कैसे विकास हुआ कैसे राज्य व्यवस्था हुई कैसे इस प्रकार का चला ये सबके समाज देखते हैं कि मनुष्य नहीं है अब जब मैं की क्या क्या विशेषताएं हैं आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा मत ध्यान दोगे तो कुछ पता ना कल्चर में वो जिसे संस्कृति कहते हैं वो कल्चरल विकास कल्चरल डेवलपमेंट होता रहता है वो इन प्राणियों में चिकित्सा होता है मनुष्य नहीं होता और किसी प्राणी का नहीं होता और किसी का जो विशेषता है बुद्धि है उसका इतिहास है उसकी भाषा है उसकी संस्था का ज्ञान है उसका कल्चर है ये सब जो मनुष्य को प्राप्त है अगर इस सबका मनुष्य उपयोग न करे रहे एक बकरी की तरह से एक बैल की तरह से